नमस्कार मित्रों आज की तारीख है 2 सितंबर 2012 ये वीडियो है पेड मीडिया के ऊपर मेरा पहला वीडियो था इसी टॉपिक के ऊपर ये दूसरा टॉपिक वीडियो है पेड मीडिया के ऊपर तो उस वीडियो में मैंने बताया मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा बाकी अधिकतर इसमें नया है कि पेड मीडिया की समस्या कोई नई नहीं है 1820 में 1820 में थॉमस जेफरसन अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति ने कहा था कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट के सिवा कुछ सच्चा नहीं होता यानी कि एडवर्टाइजमेंट में सब जो न्यूज है वो सारे झूठे होते हैं और थॉमस जेफरसन ने ये भी कहा था कि तीन तरह के जो आदमी सिर्फ अखबार पढ़ता है और अखबार के सिवा कुछ नहीं पढ़ता और दूसरा आदमी जो कि कुछ भी नहीं पढ़ता तो जो कुछ भी नहीं पढ़ता उसके पास ज्यादा और सच्ची खबरें होती है यानी जो आदमी सिर्फ अखबार पढ़ता है उसके दिमाग में गलत ही गलत खबरें होती है इससे बढ़कर एक तो वो उसका वजह क्या है कि पेड मीडिया कि उनको पैसा दिया जाता है इसलिए वो जानबूझ के इम्पोर्टेंट सच्ची खबरें न्यूज छापते और इम्पोर्टेंट और गलत खबर तो झूठ तो नहीं बोलते पर अलग तरह के सच को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं जैसे कि बार बार क्यों बोलते हैं कि अरविंद गांधी ईमानदार है अन्ना बहुत ईमानदार है क्योंकि स्वामी रामदेव जी का इन्फ्लुएंस कम करना है वाइट मेलिंग बोलते हैं कि एक आदमी की करियर ऊपर लानी एक आदमी की करियर तोड़नी है तो दूसरे ऑल्टरनेटिव को उभारना यदि इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में एक हद से ज़्यादा उसके फेवर में हद से ज़्यादा अच्छा प्रचार किया जाए अब मैंने इसका उपाय बताया है एक तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है राइट टू रिकॉल दूरदर्शन जी वो मैंने एक्सप्लेन किया चैप्टर टेन में ये मेरा राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो है आपको मिलेगा Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M मैं रिपीट करता हूँ Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M उसमें चैप्टर टेन पे ये पूरी एनालिसिस है पेड मीडिया की तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है राइट टू रिकॉल दूरदर्शन तो दूरदर्शन को पांच चैनल में डिवाइड कर दो पांचों का अलग अलग सीओ एक चैनल सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंडर में और प्राइम मिनिस्टर भी राइट टू रिकॉल से रिकॉलेबल होगा और बाकी चार का जो चेयरमैन है वो भी राइट टू रिकॉल से रिकॉलेबल होगा और जो दूरदर्शन का स्टाफ है उसके ऊपर जूरी सिस्टम होगी और हर एक मुख्यमंत्री के पास भी अपना टीवी चैनल होगा नेशनल टीवी चैनल प्लस उसके स्टेट के अंदर एक केबल चैनल होगा उसके पास तो इससे मुख्यमंत्री को यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को पूरे देश तक समाचार पहुंचाना है तो वो अपने चैनल के जरिए कर सकता है और जो राज्य का टीवी चैनल है उसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है या तो एमएलए है उसका भी प्रो रेटेड शेयर रहेगा मतलब ऐसा नहीं कि 24 से 24 घंटे मुख्यमंत्री के पास हर एक एमएलए का भी अपना शेयर रहेगा तो इस तरह से हर एक एमएलए अपनी बात देश के नागरिकों तक पहुंचा पाएगा एमपी एमएलए वगैरह तो ये तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन तब आएगा जब right to recall Doordarshan chairman का ड्राफ्ट गैजेट में छपेगा लेकिन तब तक क्या करेंगे तब तक हम एक्टिविस्ट को अखबार में एडवर्टाइजमेंट देने चाहिए पेड एडवर्टाइजमेंट जैसे मैंने अभी तक पंद्रह एडवर्टाइजमेंट दिए राइट टू रिकॉल के ऊपर गुजरात समाचार इंडियन एक्सप्रेस एक दिव्य भास्कर में दिया था अहमदाबाद मिरर में दो दिए हैं और खर्चा तो आएगा ही खर्चा कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि यदि कोई आदमी लाखों रुपया खर्च करना चाहता है तो वो कर सकता है जैसे मैं जितना भी कमाता हूँ तो टैक्स देने के बाद उसका चालीस पचास परसेंट पैसा मैं अखबार के एडवर्टाइजमेंट में लगाता हूँ ये राइट टू रिकॉल की इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचाने के लिए यदि कोई इतना सारा पैसा खर्च करना नहीं चाहता तो कोई यदि कोई मैं सिर्फ हजार दो हजार खर्च कर सकता हूँ <coughs> तो पचास सौ लोगों का ग्रुप बना लो और हर एक आदमी सीधा अखबार के नाम का ड्राफ्ट निकाले और जब वो ड्राफ्ट हो जाता है पचास हजार लाख रुपए का तो अखबार में आप सीधा एडवर्टाइजमेंट दे दो तो ये पेड एडवर्टाइजमेंट है और इसके बारे में मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ओपिनियन आपको दूंगा एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके एक्टिविस्ट जो ग्रासरूट है ग्रासरूट एक्टिविस्ट है वो बहुत ही कमिटेड है देश के लिए चिंतित है वो आर और उसका जो एपेक्स है वो एकदम निठल्ला तो जो भी पता नहीं बिका हुआ है किस सेंस में उसकी पूरी एनालिसिस में किसी अलग वीडियो में कहूंगा पर वो कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एडवर्टाइजमेंट नहीं देता और वो सिर्फ ये चिल्लाएगा सिर्फ चिल्लाएगा कि मीडिया हमारी बात नहीं छापता मीडिया हमारी बात नहीं छापता मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर मैंने गुजरात समाचार अहमदाबाद और गुजरात समाचार बॉम्बे में एडवर्टाइज दिया वन एट पेज का वन एट पेज यानी एक चौथाई पेज का आधा दो कॉलम बाई पच्चीस छब्बीस सत्ताईस सेंटीमीटर और उस एडवर्टाइजमेंट में मैंने सॉल्यूशन लिखा कि इस तरह से बांग्लादेशियों को ढूंढा जा सकता है प्रूव किया जा सकता है कि ये बांग्लादेशी है जैसे उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि right to recall police commissioner होना चाहिए वरना तो अभी तो पुलिस कमिश्नर बांग्लादेशियों में पैसे लेके बैठ जाता है पर right to recall police commissioner आने के बाद वो कैसे आ, काम बढ़ाएगा कि वो मोबाइल फोन के बिल मंगाए और देखे कि भाई कौन आदमी बांग्लादेश से बहुत ज्यादा बात कर रहा है तो वो प्राइम ऑफ फेसिस सस्पेक्ट हो गया वो ब्रू नहीं होता कि वो बांग्लादेशी है उसके बाद वो बांग्लादेश में उसके जो रिश्तेदार है उसका ब्लड सैंपल होगा और डीएनए टेस्ट से प्रूव हो जाएगा कि इसका भाई है वो बांग्लादेश में रहता है बांग्लादेश में नौकरी धंधा करता है तो प्रूव हो गया कि ये बांग्लादेशी है उसके बाद उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट लो जूरी के सामने क्योंकि जज सबके सब बिके हुए हैं तो जूरी के सामने नार्को टेस्ट लो और जूरी के सामने नार्कोटेस्ट लेने के बाद प्रूव हो जाए कि ये बांग्लादेशी है तो उसको फांसी पे चढ़ा दो तो हजार बांग्लादेशियों को फांसी होगी तो बाकी करोड़ रुकने वाले सब बच जाएंगे एक बार बांग्लादेशी के मन में ये भय आ जाना चाहिए कि वो रुका तो अब फांसी पे जाने वाला है और ये और वो रुका तो बचने नहीं वाला छुप नहीं सकता वो वापस बांग्लादेश भाग सकता है लेकिन वो छुप नहीं सकता और रुकेगा तो पकड़ा जाएगा और सीधी फांसी होगी उसको तो सारे लोग एक करोड़ बांग्लादेशी वो बंद है तो ये सारा मैंने एडवर्टाइजमेंट के स्वरूप में दिया क्योंकि तो कोई अखबार वाला सामने नहीं चाहता था उनको सऊदी अरेबिया से पैसा आता और ऐसा नहीं सबको आता है गुजरात के लोकल मीडिया वालों ने लिखा उन्होंने खुद लिखा और उन्होंने बोला भाई गुजरात में तो बांग्लादेशियों का प्रॉब्लम है पर बहुत कम है जैसे अहमदाबाद में पच्चीस हजार गैर कानूनी बांग्लादेशी पुलिस का आंकड़ा है सूरत में कुछ पचास हजार है और वो इत, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो वो अंत में जो लोकल न्यूज़पेपर है उसको एक एक कॉलम का खर्चा कहीं तो से निकालना होता है कि भाई लोगों को इस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट कम है तो फिर मैंने कोशिश की कि भाई इंडियन एक्सप्रेस में देने की कोशिश की तो इंडियन पेड इंडियन एक्सप्रेस तो इंडियन एक्सप्रेस को तो सऊदी अरेबिया से इतना पैसा आता है कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लेने से मना कर दिया तो फिर अब मैंने तय किया था कि भाई एक ना एक अखबार में तो मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी ही देनी है तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ले लिया इंडियन एक्सप्रेस ने ले लिया तो फिर अंत में मैंने परेशान होकर गुजरात समाचार मुंबई में ले लिया क्योंकि मुंबई में बहुत सारे बांग्लादेशी है और गुजरात समाचार अहमदाबाद में ले लिया अब दूसरा मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि केरल के अंदर एक मंदिर था उस मंदिर के चार दीवारी के कैंपस के अंदर वहां पे वो पानी और घास वगैरह रखते थे तो एक प्रेगनेंट गाय वहां पे बैठी थी मंदिर के अंदर घास पानी वहां पे रखते हैं तो तीन कसाई आए और उसने प्रेग्नेंट गाय को काट के उसका जो बच्चा होता है वो थैले में डाल के भागने की कोशिश कर रहे हैं पकड़े गए उसने जो प्रेग्नेंट गाय को काटा था तो उन प्रेग्नेंट गाय का जो बछड़ा होता है उसकी मीट का और चमड़ी का भाव बीस पच्चीस पचास गुना आता है तो पकड़े गए तो लोगों ने होल्ला किया पुलिस आई पुलिस ने तीनों कसाईयों को डिब्बे में बिठाया और जो मेन कसाई था पुलिस ने पैसे लेके उसको भाग जाने दिया फिर दूसरे दिन वो काव का नाम में भूल गया गूगल करोगे तो मिल जाएगा केरला काउ स्लॉटर टेम्पल तीन चार को यूर से गूगल करोगे तो, तीन चार महीने की पहले की घटना है तो तीन चार दिन वो गांव बंद रहा वहां पे छोटे मोटे रायट हुए पुलिस बुलानी पड़ी एसआरपी बुलानी पड़ी एस्टर तो दूसरे दिन आरएसएस uh, के कार्यकर्ता आके चिल्लाने लगे कि मीडिया ने ये बात छापी नहीं मीडिया ने ये बात छापी नहीं तो मैंने उनको ये बोला कि मीडिया ने ये बात नहीं छापी तो आपने अखबार में एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं किया आपके पास क्या पैसा नहीं है मेरे जैसा छोटा आदमी मैं अपने आप में छोटा ही आदमी हूँ ऐसा नहीं बोलता मजाक में नहीं बोल रहा मतलब मेरे पास कितना पैसा है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा मैंने अपने इलेक्शन कमीशन की एफिडेविट में दिया है आप वहां से ढूंढ सकते हो कि मुझसे ज्यादा पैसा रखने वाली अकेले अहमदाबाद में कम से कम पचास हजार लोग होंगे पचास लाख की आबादी है अहमदाबाद की कम से कम पचास हजार लोग आपको अहमदाबाद में मिलेंगे शायद ज्यादा जिसके पास मुझसे कहीं गुना ज्यादा पैसा है और आरएसएस के पास तो सरकार चला रहा है ये संगठन उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है किसी एंगल से पैसे की कोई कमी नहीं है तो अखबार वाले यदि ये नहीं छापते कि केरल में कसाई ने उसके मंदिर के मंदिर के कंपाउंड में जाके प्रेग्नेंट गाय काट दी पुलिस ने पैसा लेके उसको भाग जाने दिया जज भी पैसे लेके उसको बेल दे देगा ये सारी बात यदि अखबार नहीं छापते तो आप अखबार में पेड एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं दे रहे तो उसने बोला हमारा नेता मना कर रहा है मैंने कहा नेता क्यों मना कर रहा है आप पैसा किस बात के लिए इकट्ठा कर रहे हो ताकि आपका है कि भाई ये इस चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचानी है तो आप कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पैम्पलेट बांटते हो पब्लिक में तो वो पैम्पलेट जाएंगे नहीं एक दो तो परसेंट लोग पढ़ेंगे आपको बात इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचानी है तो सीधा अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दो फ्रंट पेज पे जो भी लाख दो लाख आपके लिए पहुंचा दो पांच लाख बड़ी बड़ा पैसा है लेकिन उन्होंने बोला हमारे नेता को एडवर्टाइजमेंट देने से मना कर रहे हैं क्यों मना कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचे <clears throat> ये जो एक्टिविस्ट लीडर है वो एक्टिविस्ट को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत कमिटेड है असल में वो कमिटेड नहीं है यदि कमिटेड होते तो दूसरे दिन उन्होंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दिया होता कि भाई केरल में इस तरह का हादसा हुआ और पुलिस और जज ने पुलिस ने पैसा लेके भाग जाने दिया और जज ने दूसरे दिन तीसरे दिन हफ्ते के बाद पैसा लेके बिल दे दिया या कम से कम जो घटना बनी उसका तो जिक्र करते कि भाई मंदिर में इस तरह से तीन कसाई घुस दे गाय काट दी और दूसरे दिन बंद रहा और कोई एक्शन नहीं हुआ तीन कसाई पे तो मैं आप जो कार्यकर्ता उनसे कहूंगा कि यदि आप अपने संगठन को पैसा देते हो कोई भी संगठन हो कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या आरएसएस हो या बीजेपी हो या अन्नापा ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो उसको पैसा देना बंद करो आप सीधा अखबार में एडवर्टाइज दो क्योंकि आपके संगठन के लोग पैसा लेते हैं इस बात के लिए कि ये इंफॉर्मेशन हमें पब्लिक तक पहुंचाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करते हैं तो सबसे सटीक तरीका है अखबार में एडवर्टाइजमेंट देना वो कर नहीं रहे अन्ना ने पैसा इकट्ठा किया पूरे देश से बहुत ज्यादा नहीं किया था किया होगा दस पंद्रह करोड़ और इतने बड़े देश में मूवमेंट चलाएंगे तो दस पंद्रह करोड़ ज्यादा रकम नहीं हुई पर वो पैसे का क्या कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं आपने पैसा दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अब उस पैसे का अरविंद गांधी और ये Arvind Gandhi adopted son of Sonia Gandhi और अन्ना उसे पोलिटिकल पार्टी बना रहे हैं आप आरएसएस को पैसा देते हो कि भाई देश में इंफॉर्मेशन फैला है जबकि आरएसएस के नेता साफ साफ बोलते हैं कि इस तरह के हम अखबार में एडवर्टाइज ही नहीं देंगे तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको राइट टू रिकॉल के बारे में एमआरसीएम के बारे में जूरी सिस्टम के बारे में किसी भी अच्छे कानून के बारे में या समस्या के बारे में जैसे बांग्लादेशियों की समस्या है समस्याओं और उसके उपाय अकेला समस्या नहीं समस्या तो सबको पता हो सिर्फ समस्याओं के बारे में बोलते रहोगे तो सारे पत्रकार समझ जाएंगे तो साथ बात बोल रहे हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट भी तो उस पत्रकार की तरह हो जाएगी आ, मेरे एडवर्टाइजमेंट आपको मेरे आउटपुट प्रोफाइल में मिलेंगे मेरे फेसबुक प्रोफाइल में भी दस एक दिन के अंदर मैं रख दूंगा सारे आप देखोगे कि उस एडवर्टाइजमेंट के में समस्या के उपायों के बारे में विवरण होता है जो कि पूरे अखबार में कहीं नहीं होगा तो इस तरह से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने संगठनों को पैसा मत दो वो पैसा उड़ा देते हैं या तो आपको आप पैसा देके सोचते हो आपने देश का भला किया जबकि संगठन का नेता है उसको देश का भला करने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप संगठन को पैसा देने के बजाय जो भी समस्या आपको इंटरेस्ट आपकी आपके आप जिसे गंभीर मानते हो जैसे गरीबी की हो या बांग्लादेशियों की हो या ये गौहत्या की हो या टेररिज्म से रिलेटेड हो तो उस समस्या का उपाय को कि भाई इन कानूनों से ये समस्या कम की जा सकती है उसको आप ड्राफ्टिंग कर दो दो कॉलम बाई 10 सेंटीमीटर या दो कॉलम बाई 20 सेंटीमीटर या दो कॉलम बाई 50 सेंटीमीटर इस तरह से कोई ड्राफ्ट बना दो और देखो कि भाई अब कौन सा अखबार इस एडवर्टाइजमेंट को छापने को तैयार है और छापने का वो कितना एडवर्टाइजमेंट का पैसा मांग रहे हैं और उतना पैसा आप एक्टिविस्ट बटोरो किस तरह से बटोरो कि आप चेक या ड्राफ्ट ड्राफ्ट सीधा अखबार के नाम और वो एडवर्टाइजमेंट आप सीधा अखबार में दे दो तो इससे जो बात आपको करोड़ों लोगों तक पहुंचानी वो सीधी जाएगी लेकिन यदि आप संगठन के नाम पे पैसा दोगे तो वो नेता वो पैसा दबा देंगे वो इसका उपयोग अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करते हैं वो अपना ब्रांड नेम बढ़ाने के लिए करते हैं जैसे अन्ना ने अपना नाम बढ़ाया हर एक अखबार में अन्ना की फोटो छपका दी हर एक अखबार में उसने अरविंद गांधी की फोटो आ गई हर एक टीवी चैनल पर अरविंद गांधी के इंटरव्यू आ गए हर एक जगह उसने ये नाम फैला दिया कि ये बहुत ईमानदार आदमी है ये ये आदमी यदि पीएम बन जाता है तो हफ्ते दो हफ्ते के अंदर भ्रष्टाचार गायब हो जाएगा इस आदमी के को वोट देना चाहिए इस आदमी की पार्टी को वोट देना चाहिए उसने अपना ब्रांड नेम बनाया आपका जो काम था आपका जो मकसद था जो वहीं का ही रह गया इसलिए आप नेता को पैसा मत दो और बदले में आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो और अच्छे कानून होंगे जो आपको ठीक लगते उसके कंप्लेट छपोगे धन्यवाद